हम्म। क्या बोलते हैं आप इसको ये नखलो बोलते हैं नखलो नखलो हम्म। अच्छा नख से बना है ये, ये नखले जो ये बजाने वाली ये इसको मैं नखलो कहते हैं अच्छा बस एक ही नाम है या और भी कई नाम है इसके नखलो कहते हैं नखली कहते हैं अच्छा और चैचल नखलो तो, चैचल नखलो कहते हैं चैचल चैचल नखली अच्छा चैचल नखली अच्छा नाखून तो नहीं कहते हम्म। नाखून तो नहीं नाखून कहते नहीं नहीं कहते हम्म, अच्छा ये किस चीज का बनाया हुआ है ये तो चांदी का जो एक अच्छा। गांव है हरसाण गांव है वो सोना रह रहे थे अच्छा। जब मैंने जागरण में तेरा जब सुबह वो बीजी हमारे के लोहा का बनाया था ये अच्छा। नखला अच्छा अच्छा जब उसने चांदी का बना दिया अच्छा अच्छा मतलब आपको भेंट कर दिया चांदी का बनाया अच्छा अच्छा तो आप बजाते हो इससे अब हाँ। लोहे का है आपके पास लोहे का ही गुनगुरे घर पर रही ये, ये ले आए अच्छा आप इससे बजाते हैं हम्म। और बाकी सब लोग तो लोहे के सब लो, लोहे के तांबे के हैं तांबे के हैं हम्म। अच्छा, तांबे की तार होती है ना हाँ हाँ और तांबे की तार तार बजाते हैं बनाते हैं हम्म। बजाते हैं बनाते हैं तो बना मैं खुद बना सकते हैं ये तो वो है ना तार का तो मैं खुद बना सकती अच्छा अच्छा लेकिन ये चांदी का जब हुआ तो इससे बजाने में कुछ फर्क पड़ा आवाज में आवाज में ना तो फर्क कुछ पड़ गया हाँ, कुछ अच्छा अच्छा बाज है ये इससे अच्छा बजता है ये हाँ, जो नर्म तांत होती है हाँ, तांबे की और तांबे की और आ रही है वो अच्छा बात था अच्छा हम्म। लोहे लोहे की खैरा बातें हैं वो कुछ ज़्यादा बातें हैं और ये मैंने अच्छा सुंदर बातें हैं नरम बसता है नरम आपको नरम अच्छा लगता है नरम अच्छा लगता है अच्छा अच्छा ये जो मतलब जो भी बजाता है वो इसी से बजाता है या उंगली से भी बजाते हैं कोई उंगली से बजाता अच्छा हाँ पर ये घड़ा घड़ा ये ये बजाता है बहुत ही बजाता है कोक नकली में नहीं हो नहीं होता तो सही नकली में बजाते उंगली से बजाते हैं जो उंगली से बजाते हैं वो नाखून बड़ा करके बजाते हैं और नाखून बड़ा कहीं होता है छोटा रखना चाहिए छोटा ही नहीं जब नाखून से वो इससे नहीं बजाते हैं नाखून नाखून में अटक जाएगा मेरा तार में नाखून अटक जाएगा अच्छा अच्छा तो नाखून से नहीं बजाना चाहिए अच्छा अच्छा आप किसी को सिखा रहे हैं बहुत मैं सिखाया एक अच्छा। जो सौ डेढ़ सौ आदमियों को मैं और औरतों को सिखाया है अच्छा और कलकत्ता में ना डेढ़ सौ लड़कियों को सिखाया भजन किले कलकत्ता में कलकत्ता कलकत्ता में आ, हाँ। अच्छा डेढ़ सौ लड़कियों को लुगाइयों को भजन सिखाया अच्छा जो मना उसको प्रसाद पुरस्कार मिली हुआ इक्कीस इक्कीस हजार बिमला जी माता धर्मशिला डॉक्टर अच्छा उन्होंने आपको पुरस्कार दिया पुरस्कार दिया अच्छा हाँ नवल किशोर शर्मा जो गांधी की पो, पोतरा है और उसने मैंने इक्कीस हजार का चेक भेंट किया अच्छा कलकत्ता दो बार में गया कलकत्ता हाँ। भजन सिखाने के लिए भजन सिखाने के लिए अच्छा आप सिर्फ भजन गाते हो या और भी कुछ गाने गाते सब भजन गाते हैं बस भजन ही हाँ, गाते भजन और गर्थ होते हैं जो द्रुपद प्राण होती है जो पांडवा की कथा होती है पांडवानी की कथा हाँ, हाँ। पांडवों की कथा गाते हो आप गाते थोड़ा सा वो भी सुना दोगे हम तो। हम्म। आप थक गए क्या हाँ जी ठीक है <laughs> द्रुपदा तो जी पांडवा के पंचाली थी द्रौपदी द्रौपदी हाँ पांच पांडवा की हाँ एक पत्नी थी जी तो राजा युधिष्ठर हम्म, हम्म। राजा युधिष्ठर जो ऊंचो मेहर चढ़ भीम पांडु नीचे थे बैठे थे हम्म, तो द्रुप्त के पास गए जब वो जाते सुए नमस्कार करे परकमा दे नमस्कार करें पसी बैठ गया द्रुपति को नमस्कार करें अच्छा राजा युधिष्ठर ने अच्छा का भीम पांडु गए क्या ये लुगाई के बस में होकर के लुगाई की पगी पड़ते है अच्छा वो बड़ो क्रोध आएगी हम्म, हम्म। राजा युधिष्ठिर कहे कि मैं सुबह दुप्त को मार दूंगा क्यों क्या तू धर्मी राजा युधिष्ठर है राजा है और तू लुगाई पगे पड़ते तूने एड़ की कवल का तो थारे कॉमन कर दिया क्या कहिया तो कह नहीं नहीं शक्ति है और तू ये बात छोड़ दे तो द्रुपति में अवतार ले আর দু চার পাওয়া কইসলাম हार मिल कर मातो the

इक्कीस लय नहीं है इक्कीस लय में है हम्म, इक्कीस है ये करिया इक्कीस है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। वाह बहुत सुंदर आपके साथ ये जो ढोलक पे संगत कर रहे हैं इनका क्या नाम है नाम ये बुगर खान बुगर खान बुगर और ये दिलावर खान दिलावर खान दिलावर खान मेरा सी ये मेरा मंगने दोनों हाँ। अच्छा और आप में एक अच्छा चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पद्माराम जी हाँ जी और उम्मीद है हम फिर आपसे कभी मिलेंगे और भजन सुनेंगे ठीक है बहुत अच्छा धन्यवाद